या उनके इनकार की वजह यह है कि तुम उनसे कोई मुआवजा मांग रहे हो तो ये बात भी गलत है इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार का दिया हुआ मुआवजा तुम्हारे लिए कहीं बेहतर है और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है